तो मिथ्यात्व नहीं दृष्टम द्वैत से असत्व उत्तम वह यह जो द्वैत के असत्व कथन किया गया था युक्ति युक्ति से सिद्ध किया है तद वेदांत प्रमाण अवगतम वह यह जो निष्कर्ष है वह वेदांत प्रमाण से भी अवगत है स्वप्रश माया चेत स्वप्रमा असद वस्तु वस्तुआत्मिके असद वस्तु रूपाए दोनों के दोनों है क्योंकि असत्यो सदवस्थात्मक इव लक्ष्य थे अवेकी भी लेकिन उसको सद वस्तु के समान अविवेकियों के द्वारा लक्षित कर लिया जाता है यावत काल पर्यंत अनुभव में आ रहा है तब काल पर्यंत भी उसको सत्य रूपेण ग्रहण करते रहते हैं अनुभव काल में मिथ्या नहीं है अनुभव के अनंतर स्मृति काल में उसको मिथ्या कर देते हैं आप स्वप्न और माया आदि को माया एकदम ताजा तो अध्यास हो जाते हैं कई लोग यदि अगर दृश्य उस दृश्य में कहा तो था तो हो जाएंगे उस समय पता नहीं चलते भी दिखा रहा है इसी प्रकार गंदर नगर में भी आप इतना आयत हो जाता है सोचता है सचमुच में है बाप जैसे एक बार एक महात्मा बोलने लगे कि गंगोत्री से आगे एक बहुत बढ़िया मंदिर था बेल का पेड़ था और उसमें सोए खाए पिए पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो महात्मा जो मंदिर पर थे उन्होंने बेल का शरबत पिला दिया उससे उनका तबियत ठीक हो गया तो सो गए सदर उठे तो न मंदिर था न बेल का पेड़ न कुछ उसी बर्फीला पत्थर पर सोए थे और लेटे लेटे वो सोचने लगे भाई दर्द कैसा दूर होगा बड़ा परेशान थे वो लेटे लेटे उनको जो सब दिखाई देने लगे सपना नहीं तो सोए भी नहीं थे वो वो सोए कब जब बेल का रस पिए तब सोए तब तक गंदर नगर वो देख रहे हैं महात्मा है ज्वा है मंदिर है सब है और खुआ रहे जा रहे खिलाया पिला सब देख रहा सब नहीं था वास्तव में घटना घट रही है उसके सामने किसी नगर करते हमने कहा कि भाई उत्तर काशी में भी दो तीन बेल के पेड़ उससे आगे तो कहीं पेड़ का सवाल ही नहीं बेल का कहा तुम बोल रहे गंगोत्र से आगे बेल का पेड़ अच्छा, आप मानते नहीं हमारी बात नाराज होने लगे हो कैसे नहीं मानते हो हम है हम वहां सोए हैं हमने बेल का सबक किया आप कहते नहीं है मैंने कहा अच्छा फिर कभी दोबारा जाएंगे तब देखना वहां बेल का पेड़ है या नहीं तुम्हारी तो भ्रांति है सब बहुत बाद में विचार करके बताने लगे नहीं बात तो लगता है कि लौट के जब आया मंदिर वहां ही था क्योंकि बेल का पेड़ भी नहीं था ये क्यों नहीं कहते आप बेल का पेड़ भी नहीं था तो इस तरह से गंदर नगर में भी क्या था उस काल में जब अनुभव कर रहे हैं तो उनको सत्य मानिए अनुभव करते हैं इसको कहते इसलिए सदवस्तात्मिक लक्ष्य कहीं अविवेकी भी अविवेकियों के द्वारा यथा इसी प्रकार से कहते हैं प्रसाद पन्यापण ग्रह प्रासाद स्त्री जनपद व्यवहार आकीर्ण इव गंधर्व नगरम दृश्यमान सब अकस्मात अभावतांगदम दृष्टान और चलते चलते बड़ा परेशान तो दिखाई क्या दिया उसको एक दुकान दिखाई दिया प्रसारित पुण्यापण विक्रयी पदार्थों को प्रसारित किया हुआ बहुत बढ़िया दुकान था आस पास कुछ घर थे मकान थे बड़े बड़े भी स्त्री पुरुष घूम रहे फिर रहे जनपद जैसे लग रहा है और सगल प्रकार व्यवहार हो रहे कोई कुछ बोल रहा है कुछ बातें कर रहा है सब कुछ चल रहा है ऐसे उसने गंधर्व नगर को देख लिया देर देर एक देर कुछ देर बाद गायब हो अकस्मात अभावता गतम ऐसा होता हुआ देखने को मिलता है यथाच स्वप्न माया दृष्टि असद रूप जिस प्रकार स्वप्न माया गंधर्व असद रूपा पर देखा तथा विश्व इधम द्वैतम समस्तम असदृष्टम उसी वजह समस्त विश्व भी जो द्वैत है वह असद रूप में देखने को मिला क्वा कहा ऐसे देखने को मिला इत्या वेदांत ईश्वर वेदांत शास्त्र में अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है नेहरा नास्त किंचन नाना किंचन भी नास्त भेद नाम का चीज है ही नहीं अनेकत्व तो है नहीं इंद्रो माया भी पूर्णरूप है आत्मग्रासीत ब्रह्म विदमग्रासीत न तो तद्वितीय द्वितीय अस्ति इत्यादि यत्र सर्वमात्र हो तदर्किन पश्यत इत्यादि शास्त्रों में वह अनुभव कर रहे हैं कि वे ये जो जगत है ये मिथ्या है विचक्षण ही में निपुणतर वस्तु दर्शी पंडित ही निपुणतर लोग है निपुणतर वस्तु दर्शी भी अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को भी सूक्ष्म ही सूक्ष्म दर्शी भी गीता जी का था ना तो सूक्ष्म दर्शियों के द्वारा ही वो हो सकता है वही वास्तविक पंडित है स्मृति तो तो स्मृतिकार ने इस बात को और भी सुंदर ढंग से कह दिया तमाश्वभ्र निभम दृष्टम वर्ष बुद्बुद सन्निभम नाश प्रायम सुखादीनम नाशोत्तरम अभावगम कहते हैं व्यास स्मृति का स्पष्ट ही तम स्वभ्र निभम अंधकार तमाने तमसी अंधकार में रज्जु भी अधिष्ठान में आप क्या मान रहे हैं स्वभ्र निमय भूचित्र के समान स्वप्न कहते हैं भूचित्र चित्र छोटा चित्र उसी के समान दिख रहा है रस स्वप्न निभम निभम ने सदृशम इव भूचित्रम इव ये दृष्टा अतः वर्ष बुध बुध सन्निभम वर्षा कालीन ऋतु वर्षा ऋतु काल में जैसे बारिश होता है जगह जगह क्या है पानी का बुध बुध जैसे दिखाई देते वैसे कुछ दिखाई दिया और सब क्या है सुखाधीनम प्राय सुख से रहित है प्राय है किस नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं है उत्तर भावगम और उत्तर काल में सदा सदा के लाभाव रूप को प्राप्त कर जाने वाले ये जगत है ऐसे व्यास प्रतिकार ने स्पष्ट कहा मैंने उत्पत्ति के पूर्व में परिदृश्यमान काल से पूर्व में वो असत था उत्तर काल में असत है अतः परिदृश्यमान काल में भी वो असत ही मानना चाहिए इस तरह से इकतीस श्लोकों में तीस श्लोकों में जो कहा बात को एक श्लोक में अंत में संक्षेप में संग्रह करके बता दिए द्वैत मिथ्यात्व नियुक्तियों उसको श्रुति से भी सम्मिलित कर दिया गया और अब कथित पदार्थ निचोड़ दे रहे हैं इसका तात्पर्य क्या हुआ यह असली वेदांत जब कहने जा रहे न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधक न मुक्ष न वही मुक्त इतना परमार्थ था न निराजा न चौत्पत्ति कभी वास्तव में कोई प्रलय नाम का चीज ही नहीं है अत्य उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं होता कि प्रलय होता हो किसी चीज की उत्पत्ति मानी भी जाए उस चीज का कोई चीज लय होता हो दिखाई दे आपको तब तो उस वस्तु का उत्पत्ति माना जा सकता है जब लय ही नहीं तो उत्पत्ति भी नहीं है आते स्थिति नहीं है सिद्ध हो गया न बद्धो न साधक इसे न कोई बंधन में है न कोई साधक है न मोक्ष और न वही मुक्त हो न तो कोई मोक्ष है न कोई मुक्ति है यही परमार्थ तत्व तो समझो परमार्थ स्वरूप है यदि ऐसा परमार्थता यही परमार्थता है संग्रह अर्थो अयम समस्त प्रकरण जो विचार तो हुआ है उसके अर्थ का उपसंग्रह करने के योग्य यह श्लोक है यदा विदम द्वैतम आत्मयो एक परमार्थ दसम तदा इदम निष्पन्नम भवती जब इसका निष्कर्ष गया समस्त द्वैत विचरे मिथ्या है आत्मा ही एकमात्र परमार्थ वस्तु है फिर तो यह बात निचोड़ निकलता है इस बार निष्कर्ष निकलता है क्या सर्वोयम लौकिको वैक व्यवहारो अविद्या विषय ये संपूर्ण जो लौकिक व्यवहार है चाहे वैदिक व्यवहार है ये सब क्या है ये मिथ्या ही है अविद्या का विषय ही है अविद्या का खेल है जब ये निष्कर्ष निकाल लिया आपने यदा तदा न निरोध इसे इनका लय होने का प्रश्न ही नहीं उठता निरोधम यदि निरोध प्रलय हुए इसका प्रलय नाम का चीज नहीं हो सकता चलो आप सके फिर तो आप तो फिर मीमांसक हो गए मीमांसक क्या मानते हैं जगत सत्य है और इसका कभी प्रलय नहीं होता जो आपने भी कर दिया प्रलय नहीं होता आप तो फिर मीमांसक हो गए सत्य बाबा हम तो उत्पत्ति भी नहीं करते वो तो उत्पत्ति मानते हैं अनादिकाल उत्पन्न और अनंत काल तक रहेगा प्रलय नहीं होता उत्पत्ति तो मानते हैं तो हम उसको भी नहीं मानते तो हम मीमांसा कोटि में नहीं जा सकते नोत्पत्ति ही उत्पत्ति वाली जननम जन्म भी इस वस्तु का किसी भी वस्तु का नहीं हुआ किसी वस्तु का जन्म ही नहीं हुआ ये पारमार्थता है और यह date of birth date of death की हिसाब किताब चलते रहता है जन्म दिवस मनाया जा रहा है जन्म दिवस का रजत महोत्सव मनाया जाता है नहीं नहीं बड़ा मुश्किल काम मरण दिवस का भी रजत महोत्सव मना रहे निर्वाण का रजत महोत्सव जन्म दिवस मरण दिवस सब हिसाब किताब रखे जाते हैं नहीं और जो उत्पत्ति नहीं है परमार दृष्टि उत्पत्ति नहीं है फिर खैर को जाए मरण दिवस जन्म दिवस मनाए तो वास्तविक उत्पत्ति है ही नहीं किसी चीज की और जो झूठी उत्पत्ति बने क्यों हम इसमें पड़े पछड़े में पड़े नहीं इसलिए चिदानंद जी महाराज ने लिख दिया कि शरीर छूटने के तीन घंटे के अंदर गंगा जी में डाल देना कोई शो पीस बनाकर बिठाना नहीं बर्फ का बीच में सारे दुनिया प्रचार करो सब आएंगे जाएंगे नहीं पैसा बटोरो तुम कोई धंधा है हमारे मरने का भी पैसा बटोरोगे सी हम्म? भंडारा नहीं करना भाई भंडारा संडार कुछ नहीं होगा यदि देना ही दान पुण्य करना चाहते हो तो कहे जितने बाल बच्चे इधर क्षेत्र में स्कूलें हैं बच्चों के सब स्कूल फुट पैकेट बांट यही भंडारा हमारा सी जितने कोड़ी है लेपरी लेप्रोसी कॉलोनिया है सब में लेकर को खिलाओ पिलाओ लिख दिया उन्होंने अब गुरु का आदेश है मानेंगे छेड़े लोग इसी करेंगे वो जैसे शुरू छुटेगा देहरादून से लाएंगे समाधि हॉल में ले जाएंगे दो मिनट बिठाएंगे सीधा गंगा जी में डाल छुट्टी जाएगा चीज को सोचा नहीं दिया जाएगा बाद लोगों को पता लगते रहे लगते रहे मैगजीन में आएगा अमुक तारीख को छूट गया मैगजीन में आएगा लोगों को पता चलते रहेगा कोई जुलूस नहीं कुछ नहीं मना कर साफ सब और कई दुष्टों का नाम भी दे दिया कि हमारे शरीर को छूना भी नहीं मुर्दे को छूना दुष्टों का नाम गिना दिया कि ये जो दुष्ट है ये इस मुर्दा का भी स्पर्श न करे ये भूल चूक से किसी जन के पुण्य के कारण से मान लो ऋषिश्वर रहे वो लोग तो वो शरीर को भी न छुए ऐसे सब लिख दिया असाध लिखते सब छोटी सी भंडारा झूठी परंपरा है धन दौलत की शान दिखाने का है ऐसे ऐसे काम लंबा छोड़ा लिखते पत्र वेदांत तो को समझते हो लफड़ा पड़ेंगे नहीं क्या छोटी सी बुंडर क्या है सब ड्रामाबाजी दुनिया भर की हमारी यात्रा निकाली जा रही है अरे किसके मुर्दे को लेगी शरीर को आत्मा की निकालो तुम शव यात्रा अरे आत्मा की कोई यात्रा तो निकाली नहीं सकती अभी आपके है विभु है उसी की यात्रा निकालो शोभा यात्रा हमें निकाल रहे मिथ्या वस्तु की और किसी लिए मिथ्या धन के लिए दिखावा सब दिखाना पड़ा है ना कि भगत को देखो हमने ऐसे ऐसे किया गुरु महाराज ने वीडियो बनाएंगे दुनिया को दिखाएंगे भंडारा करेंगे उसका वीडियो दिखा लेंगे दिखाएंगे विदेश में देखो हमारे यहाँ अन्य क्षेत्र में महात्मा को भंडारा खिलाते शुरू शुरू में ऐसे ही होता था पैसा कमाने का तरीका है वीडियो बना के विदेश में दिखाएंगे देखो हमारे यहाँ साल में एक भंडारा देते हैं पांच सौ महात्मा को बिठा दिया और खुद परोसने की नाटक रचते हैं और वीडियो निकाल रहे हैं विदेश तो में जाकर देखो महाराज खुद परोसते हैं वहां पर बस तुरंत अनुदान की रसीदें तो कट रही इतने डॉलर इतने डॉलर दना दन आ रहा है कहा परमार्थ है और कहा जो है उसमें क्या को सत्य मान उसके चक्कर में घूमे जा रहे हैं न बद्धो इसलिए कोई बद्ध भी नहीं है बद्ध है संसारी जीवा कोई बद्ध भी नहीं जिससे मुक्ति को पाने की चेष्टा क्यों करना है बद्ध है नहीं न जो साधका साधनावान मोक्ष मोक्ष की साधना वाला कोई साधक भी नहीं है मोक्ष मोचनार्थी मुक्त विमुक्त बंध मोक्ष मोचनार्थी मुक्ति को चाहने वाला और मुक्त वह है जो विमुक्त हो गया है बंधन से रहित हो गया एक कोई भी वास्तव में नहीं है उत्पत्ति प्रणय और अभाव बद्धादि न संदिशा परमार्थता उत्पत्ति प्रलय आदि ही नहीं रह गए अरे तदंतर वर्णीभूत है बद्धादि भी वास्तव में इसलिए नहीं है यही पारमार्थिक सिद्धांत समझो कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव तुच्छ है वही तो उत्पत्ति प्रणय क्यों नहीं है क्योंकि भाई द्वैत ही नहीं द्वैत हो तब ना उत्पत्ति प्रणय माने यत्र पश्य आत्म सर्व ब्रह्म सर्व सर्वम एकमेवा ब्रह्म इदम सर्व मेरे महात्मा इत्यादि नाना श्रुतिभ्यो द्वैत से सत्यम सिद्धम इत्यादि नाना श्रुतियों के द्वारा द्वैत की असत्य सिद्ध है जहाँ द्वैत के समान हो जाता है तो द्वैत होता ही नहीं द्वैत के समान होता ही वास्तव में द्वैत होता ही नहीं है द्वैत के समान हो जाता है बस उतना ही मार्ग से आदमी को भय व्यवहार हो जाता है यही अल्लाह नहीं उपश्यति समृत्यो मृत्युम आपनोती जो यहाँ किंचित भी भेद के समान भी दर्शन करने लग जाए तो निश्चित मृत्यु के मृत्यु भयंकर जो है ये साधारण शरीर का मृत्यु तो कुछ भी नहीं है अविद्या की मृत्यु में डूब जाएगा आत्म वेदम सर्वम इसलिए वास्तव में सब कुछ क्या है आत्मा ही है दृश्य काल में भी ये आत्मा ही है ब्रह्म ही है एक में बद्विति तत्व ही पारमार्थिक है इदम सर्वम आत्मा ये सब कुछ जो कुछ भी है वो आत्मा ही है इत्यादि नाना श्रुत द्वित से सत्यम सिद्धम सतो ही उत्पत्ति प्रणयोगा न सत शिष्य विषाण यदि कोई वस्तु सत हो सत्य तो उसकी उत्पत्ति प्रणय आदि हो सकते हैं असत शिशुषाणादियों का प्रलय आदि भी कभी हो नहीं सकता अरे फिर तो अद्वैत भी ऐसा ही है क्योंकि इसका अद्वैत प्रलय है नहीं इसलिए असत शिशुषा आदि के समान है तुम्हारा ब्रह्म है या नहीं क्योंकि आपने कहा जो सत्य होता है उसका उत्पत्ति प्रलय होता है और जो असत होता है उसका उत्पत्ति प्रलय नहीं होता और आपने कहा आप आपके आत्मा जो परमार्थ है उसका उत्पत्ति प्रलय नहीं है इसका निश्चित से आत्मा असत्य है अरे नहीं नहीं असत भी नहीं है ये तारस तो कार्यात्मक तो सत्वी नहीं है नाप्यद्वैत उत्पत्ति लिए देवा अद्वैत भी शिशु विषाणादि के समान न उत्पन्न होता है न लय को प्राप्त होता है अद्वैत उत्पत्ति प्रलय वी प्रतिषिधम क्योंकि विरुद्ध बात है एक तो कार्य अद्वैत है और दूसरे को कहोगे वो उत्पत्ति विनाशशाली है परस्पर विरुद्ध बात हो जाएगा ये इसलिए यह हो नहीं सकता है इस पर काफी शाहपात इसलिए होगा क्योंकि तेजा परमार्थ तो कह दिया है तो उसको मानेंगे ही नहीं कोई भी कैसे मानेंगे न संसारी है न बद्ध है न संकट है न जीव है न मोक्ष है न मुक्त है कुछ भी नहीं दे दिया नहीं कैसा होगा तो है लिखना सब बेकार है कौन पढ़ा रहा है किसको पढ़ा रहा है सब झूठ है या नहीं सब मिथ्या है मिथ्या चक्कर में क्यों पड़े ये दृढ़ निश्चय नहीं है ना चलो ये महात्मा आए थे तो ये कहते रहे अच्छा भाई हम तो ब्रह्म है क्या करें उनको संस्कार ऐसे दे दिया है लेकिन बिना हम चल नहीं सकते बिना पद का जी नहीं सकते फिर हम ब्रह्म कहा से रह गया उनको पद चाहिए पोजिशन चाहिए पोजिशन क्यों तो जी नहीं सकता आदमी हाँ इतने अहंकार है और फिर कहते मैं ब्रह्म तो हमने कहा कि भाई आपको बताया है हम ब्रह्मास्मि गलत नहीं है आप ब्रह्म है कौन कह रहा नहीं है लेकिन उसमें आपकी निष्ठा बनी हुई है कि नहीं है मैं ब्रह्म हूँ इसमें निष्ठा है क्या कि पद में निष्ठा है आपको आपका अपना पद में निष्ठा है या ब्रह्म में निष्ठा है किसमें निष्ठा आपकी है कि भाई होना तो चाहिए नहीं होना चाहिए बात छोड़ो है क्या पूछ रहा हूँ होना चाहिए ब्रह्म में इसलिए बात बोलता हूँ होना चाहिए और कब होएगा क्या होगा वो छोड़ो अब क्या है वर्तमान में आपकी निष्ठा पद में है ना रिजा में छुट्टी समस्या ये ना है ना परमार्थ में ठीक है हम ब्रह्म है लेकिन वर्तमान व्यवहार काल में ये सर्वमिलम आत्मा ये अनुभव में आ रहा है क्या यदि सर्वमिलम आत्मा ही करके अनुभव आ जाए ब्रह्म युम सर्व अनुभव में आ जाए फिर पद का भूख कहा से रह जाएगा भेद बुद्धि से व्यवहार कैसे करोगे आप मिथ्या व्यवहार करोगे तो मिथ्या पद मान के चलो फिर पद के बिना भी पद का होना भी मिथ्या है न होना भी मिथ्या है फिर उनका पद के कारण से कहीं से परेशान होकर निकल पाओगे क्या मतलब ये समस्या यहाँ पर खड़ी होती है शास्त्रार्थ स्वर काफी करना पड़ता है ये तो पुनः द्वैय संव्यवहार ये जो द्वैय संव्यवहार है स रज आत्म प्राण लक्षण कल्पित उत्तम वह रज सर्व के समान प्राणी रूप से इस आत्मा में परिकल्पित है नहीं हर रज लक्षण हर रज्वाम प्रलय उत्पत्ति मन से विकल्पित रज्जु में देखा गया सर्पादि रूपा जो भ्रांति है वह रज्जु में कभी न उत्पन्न हुआ न रज्जु में उसका लही होता है न च मन से रज सर्प से उत्पत्ति प्रणयवा और विचित्र तो ये भी है मन में भी उत्पन्न और नाश नहीं हो रहा है वो न रज्जु में उत्पन्न और नाश हुआ न मन में उत्पन्न नाश हुआ है गाँव न चो गए तो वाह और दोनों जगह हो गया वहाँ हो गया इसलिए यहाँ भी हो गया दोनों जगह उत्पन्न हुआ है दोनों जगह मिलाई हुआ है ऐसी बात भी नहीं न केवल रज्जु उत्पन्न विनाश हुआ है सर्प का न केवल मन में सर्प उत्पत्ति विनाश हुआ है न तो रज्जु मन उभय उत्पत्ति नाश भी नहीं हुआ है तथा मानसत्व अविशेषा द्वैत ठीक उसी प्रकार यह द्वैत प्रपंच भी न तो आत्मा उपलब्ध हुआ न उधर माया में उपलब्ध हुआ न आत्मा माया दोनों में भी उपलब्ध नहीं है इनकी उत्पत्ति और विनाश माया में भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि माया नाम का वस्तु वास्तव में है ही नहीं और आत्मा वास्तव वस्तु है लेकिन इसमें भी द्वैत उत्पत्ति और विनाश नहीं है उभयात्म वो भी नहीं हो सकता इसलिए तथा तो हाँ। मानसत्व विशेषात मानस मन के मात्र के द्वारा अनुभूत वृत्ति विशेष होने के मात्र से इस द्वैत को भी उसी प्रकार समझो वास्तव में तो न माया में है न तो उधर आत्मा में है न दोनों में है नहीं नियत मन से ये कैसे निर्णय हमने लिया यदि मन में हो तो वास्तविक उत्पत्ति वास्तविक लय मन तीन अवस्थाओं में है तो तीन अवस्था में ये जगत का अनुभव में होना चाहिए लेकिन सशक्त अवस्था में मन है विद्यमान लेकिन उसमें जगत दिखाई नहीं दे रहा और आपका भी सुषुप्ति में है या नहीं यदि आपका भी उत्पन्न और उत्पन्न विनाशवाशाली होता फिर तो वह सुषुप्ति में जगत की अनुभूति होनी चाहिए आते वो उभय में नहीं क्यों दोनों सुषुप्ति में है मन भी है आता भी है तेन जगत नहीं दिखा इसलिए नियत मन से अथवा समाधि में ले नियत मन गौर समाधि अवस्था समाधि अवस्था में भी आप देखेंगे आप आत्मा है वहां और आप ये भी जान रहे हैं कि मैं अपने समाधि अवस्था में मन को आत्मा में लीन कर दिया हूं अगर मानसिक वृत्तियों को आत्म रूप में परिणत कर डाला अगर मन के अपने स्वतंत्र परिच्छेदत्व को आपने मिथ्या रूपेण अनुभव कर लिया है और केवल स्वरूपानुकार स्वरूपानुकार वृत्ति विशेष रूपेण आप ब्रह्माकार वृत्ति मात्र का अनुभव कर रहे हैं वृत्ति व्याप्ति हो रही है फल व्याप्ति नहीं है ऐसी जो अनुभूति काल में भी आप देखेंगे मन भी है आत्मा भी है लेकिन जगत नहीं है अगर नहीं नियते मनसी सुषुप्तेवा द्वैतम गृह अतो मनोविकल्पना मात्र द्वैतम सिद्ध इसलिए यह बात सिद्ध हो गया मन की विकल्पना मात्र द्वैत है तस्मा सुप्त द्वैत से असत्ता निरोधाद्य भाव परमार्थता तिथि इसलिए बात बिल्कुल सही कहा गया है द्वैत ही न होने के कारण से निरोधादि का अभाव है यही परमार्थ है यही वास्तविक सत्य है ये कहा गया जो वह सुष्टुक्त उक्त है यहाँ से पूर्व पक्ष आरम्भ होता है इसका मतलब समस्त शास्त्र जो है आपका द्वैता अभाव का निरूपण करने में ही चरितार्थ हो जाता है अद्वैत का निरूपण करने वाला कोई शास्त्र नहीं है हमने दिया एक मगर क्या अगर हमें बताया जितने भी शास्त्र ये शास्त्र ही द्वैत भाव को सिद्ध किया ये तो आपने कहा अभी इसे कहते ननो यदि एवं द्वैता भाव शास्त्र व्यापार हो ना द्वैत है आपके कहे के अनुसार द्वैता भाव का प्रतिपादन करना ही मुख्य प्रयोजन हो गया शास्त्रों के व्यापार ये जो शास्त्र व्यवहार है शास्त्र व्यापार है इसका मुख्य प्रयोजन क्या द्वैता भाव सिद्धि नाद्वैत अद्वैत उचित करना इसका प्रयोजन नहीं है क्यों क्योंकि तो अभाव और भाव दोनों परस्पर विरुद्ध बात दोनों को कैसे करेगा द्वैता भाव अभावात्मक और अद्वैत क्या है भावात्मक है भाव और अभाव दोनों कैसे करेगा परस्पर विरुद्ध वस्तु परस्पर विरोध है ना इसलिए विरोधाधित दिया एक अद्वैत तत्व तत्व सिद्धि में आपके शास्त्र का कोई व्यापार नहीं होगा अरे शास्त्र प्रमाण से अद्वैत सिद्ध नहीं है ये पूर्व शास्त्र प्रमाण से केवल द्वैताभाव की सिद्धि हुई शास्त्र प्रमाण से अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ और दोनों को शब्द सिद्ध करता है ऐसा मत कहो क्योंकि अभाव और भाव दोनों को सिद्ध नहीं करता भाव अद्वैत है भाव द्वैत परस्पर विरुद्ध है परस्पर विरुद्ध तत्व को एक ही जो शास्त्र से सिद्ध नहीं कर सकते तथा अद्वैत से वस्तुत्व है प्रमाण बाबा शून्यवाद प्रसंग इसलिए पूर्व पक्ष कहता है यदि यह बात तब तो स्वीकार कर लोगे फिर तो अद्वैत का वस्तुत्व में कोई प्रमाण ही नहीं है अद्वैत कोई पारमार्थिक वस्तु है ऐसा आपने अभी डिम डिम घोष किया इतेशा परमार्थता ये केवल झूठी उद्घोष है इसमें कोई प्रमाण नहीं अतएव शून्य ही सत्य है ऐसा व्यक्त हो जाएगा शून्यवाद प्रसंग हो द्वैत से क्यों क्योंकि द्वैत तो है ही नहीं रहेगा क्या शून्य तो बचा जब आप कहेंगे भाई आपके पास दो रुपया था उसके आपने जो मिठाई खा लिया फिर बचा क्या आप एक कहोगे अद्वैत बचा बोलो क्या एक रुपया बच गया कहो भाई एक में वी रुपया बच गया दो रुपया का मिठाई खा लिया फिर भी एक में वी रुपया बच गया बोलेगा कोई ये कहना पड़ेगा आपको भाई अब दो रुपया खाली हो गया दो रुपया का अभाव है अतः मेरे पास आप शून्य रुपये हैं ये तो कहोगे तो इसे द्वैता भाव हो जाने के कारण से शून्य के अस्तित्व सिद्ध होता है अद्वैत की सिद्धि एकमेव अद्वितीयत्व की सिद्धि नहीं हो सकती चेत न तो सिद्धांति कहता है देखो रज सरकार बनाया निराश पद तलपत्य है कई बार ये बात पहले समझा चुका हूँ कि जो भी विकल्पना थी वो कहा हुई थी द्वैत की विकल्पना आप जो कह रहे हैं वो कहा है द्वैता भाव है या बोल रहे भी कहा है ये बताओ क्योंकि कहा की जितने भी है अभाव को निर्दिष्ठान कर नहीं मानते चाहे भाव है चाहे प्रत्यंसा भाव है चाहे चिंता भाव है चाहे अन्योन्या भाव है कोई भी अभाव है वो निर्दिष्टार स्वरूप मानते क्या कोई ना कोई अधिष्ठान बताना पड़ेगा उनको तो द्वैता भाव का अधिष्ठान क्या है बताओ द्वैत का अधिष्ठान क्या है और द्वैता भाव का अधिष्ठान क्या है बताना तो पड़ेगा ना तो घट का अधिष्ठान क्या है और घटाभाव का अधिष्ठान क्या है वैसे तो प्रश्न है द्वैत का अधिष्ठान क्या है और द्वेता भाव का अधिष्ठान भी क्या है दोनों का अधिष्ठान बताओ क्योंकि तो सर्प का अधिष्ठान आप जानते हैं सर्प अभाव का भी अधिष्ठान आप जानते हैं रज्जु ही सर्प का भी अधिष्ठान है और रज्जु ही भाव का भी अधिष्ठान है तो इसलिए कहते हैं रज्जु सर्पादी विकल्पना के समान निराश पदत्व द्वैत अभाव निरास्पद हो जाए या द्वैत निरास्पद हो जाए निरनुष्ठानक हो जाए यह कभी उपपन्न नहीं हो सकता अनुपत्ति प्रत्युत्तम में यह बात हम पहले कई बार पुनः पुनर्विचार करके खंडन कर चुका हूं कथा उपजीवेशी इत्याहा क्योंकि हम कहते हैं प्रत्युत्तम में बात हमने पहले खंडन कर चुका फिर हम उसे पूछूंगा पुनः तुम उसको क्यों जगाने की चेष्टा करें कथम सी अरे गड़ा मुर्दा को क्यों काट के दिखाना चाहते हो दो बार वही शंगा वही शंगा बारम्बार बारम्बार है एक बार दो बार तीन बार बता दिया अब भाई तो चिंतन करो उसको समझो बार बार वही पूछे जा रहा है, है? अरे कथम तो दोबारा क्यों उसको जिंदा करने की चेष्टा करो शंका को अरे महाराज हम क्या करें अनुभव में नहीं आ रहा आप तो कह तो देते हो चिंतन भी करता हूँ कुछ नहीं होता कहे रज्जु भी सर्प विकल्प से आस्पद भूता विकल्पिता है दृष्टान अनुपत्ति पूर्व पक्षी कहता है वो सर्प तो मिथ्या है रज्जु भी आपके मत मिथ्या है ना तो विकल्पना भी मिथ्या विकल्पना का अधिष्ठान ही मिथ्या इसे दृष्टांत ही असिद्ध है इसलिए हमको शंका उत्थापन करना पड़ा अब तक मैं ये मान के चल रहा था रज्जु सत्य है यहाँ करके आप रज्जु भी उत्पन्न नहीं हुआ न निरोध राज्य को ही नाश कर दिया तो अधिष्ठान ही खत्म हो गया इधर दृष्टान नहीं बन पहले तो दृष्टांत में मान भी लिया था इस चीज को क्योंकि सर्व रूप दृश्य मात्र को प्रत्याशित करके रज्जु का सत्य मानते थे और अब आपने कहा संसार उत्पन्न नहीं हुआ तो रज्जु कहाँ से है फिर तो रज्जु भी नहीं है ना जब रज्जु भी नहीं है तो अधिष्ठान नहीं रहा इधर शून्य रहा अरे शून्यवादी वापस से दो गया पूर्व पक्षी कहता है रज्जु रपी सर्प विकल्प सियास्पद भूता जो सर्प विकल्प का अधिष्ठान भूता अधिकरण होता जो रज्जु है वह भी विकल्पिता एव वह भी आपके ना विकल्पित ही है इति इसलिए दृष्टांत ही आपको उपन्न नहीं हो रहा है इति चिन्ह विकल्पना छे अविकल्पित अविकल्पित सत्य है तदेव कहना पड़ेगा देखो विकल्पना का क्षय होने पर एक अविकल्पित वस्तु आपको मानना पड़ेगा फिर हम पूछेंगे आपसे ठीक है आपने मेरी ये बात तो मानकर कर दृष्टांत सिद्धि कि सर विकल्प जैसे मिथ्या अधिष्ठान होता रज्जु भी विकल्प है मेरे कहने पर आपने मान लिया ना आशीर्वाद खड़ा कर रहे हो हम आपसे पूछते हैं जैसे हमने बताया सर्व विकल्प का अधिष्ठान क्या था रज्जु था वो भी यदि विकल्प है तो उसका अधिष्ठान तो खोजो एक नहीं सोच रही हो उत्तरोत्तर विकल्प के प्रति पूर्व पूर्व विकल्प अधिष्ठान हो गया ये तो तात्पर्य का घट रूपी विकल्प का अधिष्ठान कपाल है कपाल रूपी विकल्प का अधिष्ठान पिंड है पिंड रूपी विकल्प अधिष्ठान वह मिश्रित जो है मृत्यु का विशेष है और मृत्यु का विशेष मिश्रित का भी जो अधिष्ठान का के कण है का भी कण का विकल्प का अधिष्ठान परमाणु तक जाते हो कि नहीं जाते हो परमाणु विकल्प का अधिष्ठान कौन है क्यों सोचते हो वो तो अविकल्पित कहीं ना कहीं जरूर होगा विकल्पनाओं की धारा जो चल पड़ी हुई है उत्तरोत्तर के प्रति पूर्व पूर्व अधिष्ठान बनते जा रहा है कोई न कोई ऐसा अंतिम अधिष्ठान आपको मानना पड़ेगा जो की अविकल्पित होगी क्योंकि यह सर्व सामान्य अनुभूति हम अनुभव कर रहे हैं हर एक विकल्प किसी न किसी अधिष्ठान के बिना नहीं अनुभव में आ रहा है और इस धारा का जैसे आप नहीं आए लोग कहते हैं अवयव अवयवी धारा को हम परमाणु में समाप्त कर देना चाहते हैं और इसे परिमाण की धारा को हम महापरिमाण बुदा विभू परिमाण बुदा आकाश में समाप्त कर देना चाहते हैं क्यों अनवस्था दोष भया क्योंकि जो इसकी बिना व्यवस्था वो दे नहीं सकते यानी परमाणु लगाया तो श्रेणु परमाणु डानू कानू पानू फानू गानू कुछ बोलो ना नाम रखते जाओ और काय को परेशान हो रहे हो रखो हजारों नाम अरे नाम ही तो करनी है तुम्हारे अनुमानों से करते जाओ नामों का अनुमान करते जाओ नहीं नहीं नहीं वो अनवस्था हो जाएगी वो कहाँ तक जाएंगे भाई तो उसका परिमाण क्या उसमें क्या के गुण रखते बड़ा झंझट हो जाएगा कल इसलिए यही रुक जाओ क्या आगे के झंझट हम पाला नहीं चाहते कल तुम तो झंझट पालने से डर रहे हो हम तो झंझट पालते ही नहीं हम तो साहब कहते आत्मा है बात खत्म जो तुम हो ना जो कह रहे हो रज्जु भी विकल्प है कहने वाला कौन है वो हरियाणी वो अविकल्पित है ना इसे सकल विकल्प राम की धारा का भी अधिष्ठान होता कोई तत्व तो मानना पड़ेगा कि निरधिष्ठान विकल्प हो नहीं सकता जो तुम्हारा अंतिम विकल्प है जो विकल्प धारा गिनते गिनते गिनते अंतिम विकल्प जो गिनोगे वो अंतिम विकल्प का अधिष्ठान आप स्वयं है जिसको आप अनुभव करके अंतिम विकल्प है ऐसे बोलने वाला ही उस अंतिम कल का अधिष्ठान और वो जो बोलने वाला अंतिम विकल्प का अधिष्ठान तत्व है वही अविकल्पित तत्व है इसलिए कहते हैं विकल्पनाक्ष अविकल्पित अविकल्पित सत्य उपत्य है वह अविकल्पित वस्तु मानना पड़ेगा और वह अविकल्पित होने के कारण से ही उसी को सत्व है वही सत्य है वही पारमार्थिक है ऐसा सर्व सिद्धांत अनुसरण स्वीकार करना ही पड़ता है कारण सकल विकल्पनाओं को करने वाला मैं जो हूँ मैं भी नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं कह सकता स्वाप के सत्व का निषेध कौन करेगा कोई नहीं करता इसलिए तो मतलब आप स्वयं ही सकल विकल्पनाओं का अधिष्ठान है स्वयं ही क्या है सकल विकल्पनाओं का अधिष्ठान है क्योंकि जितने भी विकल्प आए हैं वे सब क्या है जय दृश्य और विकल्पनाओं का प्रकाशक आप हैं अतः आप ही अविकल्पित है आप यही कोटि में नहीं है यही विचार चल रहा है गीता जी में भी ना यही ज्ञात्र कोटि चल रहा है क्षेत्र क्षेत्र के विषय यत्किंचन ज्ञाई है वो विकल्प है और जो ज्ञेयों को अनुभव करने वाला है वो ज्ञाता है वो अविकल्प और कभी भी ज्ञेय या ज्ञेय का धर्म इस ज्ञाता या अविकल्प के साथ संबंध नहीं रख सकता अतएव ज्ञेय को ज्ञाता से भिन्न और ज्ञाता का अगर कोई धर्म भी नहीं है एक ज्ञाता का जो धर्म रहेगा सोचा रहेगा कौन यदि आपने जान लिया इसका मतलब आपका यही है अज्ञात प्रथम नहीं हो सकता क्योंकि जो जय है उसको समान ज्ञाता के साथ हो नहीं सकता अगर ज्ञाता का धर्म भी यदि जय कोटि में आ गया फिर वो ज्ञाता का धर्म ही नहीं हो गई है अगर ज्ञाता स्वयं निर्धर्मक सिद्ध हो गया ये जो अविकल्पित है विकल्पाओं से रहित है सर्वधर्म से रहित है इसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामिकम शर्मा ये धर्म ही सब विवाद का कारण बना ये विकल्प रहा है धर्म जितने भी हो विकल्प है इसलिए कहते कि देखो कि सत्य पते रज्जु सर्ववध असत्य मिचे अगर रज सर्व के समान हो भी असत मान लो वो अविकल्पित तत्व को भी असत मान लो अरे न एकांत ने अविकल्पित अव्यविचारी रूपेण वो अविकल्पित है अविकल्पित रज रज्जुवंश प्राक सर्पा भाव विज्ञान क्योंकि जो है अविकल्पित रज्जु के समान है समझो प्राग सर्पा भाव विज्ञान सर्पा भाव काल में सर्प काल में सर्वदा ही एकमात्र रज्जु ही आपको अनुभव में आता है विकल्प तुष्ट प्राग विकल्पना उत्पत्ति है सिद्धत्व असत्व अनुपत्ति है और विकल्पनाओं की उत्पत्ति से पहले उस विकल्पिता का सिद्ध स्वरूप आप स्वीकार करते हैं अतः उसके असत्व हो नहीं सकता क्योंकि सकल विकल्प के पूर्व में अधिष्ठान होना जरूरी है पट पहला कि चित्र पहला पट ही नहीं होता पहले तो चित्र कहाँ होते इसलिए मानना पड़ेगा जो अविकल्पित अधिष्ठान स्वरूप है वो सकल विकल्प से पूर्व काल में रहता है और जो विकल्पनाएं असत्य है उसके पूर्व काल में उसका भी अधिष्ठान बन गए उसकी भी विकल्पना का कारणीभूत तो अधिष्ठान आस्पद होकर के जो राजमान है उसको तो सबको मानना ही होगा पक्षी कहता है महाराज यही विकल्प ही था जो आरोप का अधिष्ठान बता तत्व है विकल्पों से पहले विद्यमान था सिद्ध रूप से था अतएव उसके सत्य असत्व नहीं हो सकती कहते हो सत्व ही होगी तो हम एक और प्रश्न डालते हैं कहते हैं कि आत्मा द्वैत ब्रह्म का अधिष्ठान है यही आप कहना चाह रहे हैं लेकिन कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभावे शास्त्र से द्वैत विज्ञान निवर्त इन्हें समस्या खड़ी होगी जो दिखाई दे रही द्वैत को निवृत्ति भी ये शास्त्र कैसे करेगा जब आत्मा में शास्त्र का व्यापार ही नहीं हो सकता शास्त्र व्यापार संबंध आत्मा में नहीं हो सकता तो उस आत्मा में दिखाई देते तो द्वैत को निवृत्त शास्त्र कैसे करेगा तरी स्वरूप व्यापारा भावे शास्त्र ये शास्त्र क्या है द्वैतांतर्गत है वो भी विकल्पना है और उस विकल्पना का अधिष्ठान भी आत्मा है और उस विकल्पना का संबंध अपने का आत्मा में नहीं है अगर शास्त्र का कोई भी व्यापार का संबंध आत्मा में नहीं होगा जो स्वरूप में आत्मा में शास्त्र व्यापार नहीं है तो वह द्वैत विज्ञान का निवर्तक कैसे होगा क्योंकि वो मान के चल रहा है पूर्व पक्षी ये जो द्वैत विज्ञान कहा है आत्मा में है और ये मानता है ना ज्ञानाधिकरण आत्मा इसीलिए कहते हैं द्वित विज्ञान कहा है आत्मा में है लेकिन वहां शास्त्र पहुंचेगा नहीं तो नाश कैसे होगा द्वैत विज्ञान का शास्त्र का संबंध आत्मा में नहीं जाएगा मैंने समाधिकरण में हुए बिना कर्म से नियम क्या है सर्व कारणानाम कार्यकार समापत्ति ये माना गया है सकल कारणों को कार्य कारण एक अधिष्ठान में होना जरूरी है एक अधिष्ठान में कार्य कारण दोनों विद्यमान नहीं हो सकते हैं फिर तो दोनों का परस्पर कार्य कारण भाव नहीं माना जा सकता इसे आत्मा में विद्यमान विज्ञान का नाश यदि होना है उसका नाशक भी कारण यही है आत्मा के अधिष्ठान में होना चाहिए तभी वो आत्मा के अंदर विद्यमान द्वैत विज्ञान को नाश कर सकेगा नहीं अब आत्मा में क्या है द्वैत विज्ञान है और शास्त्र का है आत्मा में नहीं है तो भिन्न अधिष्ठान में हो गया ना जैसे मुंबई में कुंभकार है मिट्टी जो तैयार कहा है ऋषिकेश में है अब वो कैसे बनेगा घड़ा मन नहीं सकता है ना जब तक तो मुंबई में रहने वाला कुंभकार ऋषिकेश में अगर एक अधिष्ठान में नहीं हो सकता और कार्यकाल इकट्ठे नहीं होते यहाँ तो घड़ा तो उत्पन्न नहीं हो सकता या नहीं तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है कहते जो भिन्ना अधिष्ठान में रहने जो दो तत्व है परस्पर कारण भाव उनका नहीं हो सकता है इसलिए पूर्व पक्ष कहना है स्वरूप में जो शास्त्र का व्यापार नहीं मानते हो और स्वरूप में ही द्वैत विज्ञान है अतव शास्त्र द्वैत विज्ञान का निवर्तक नहीं हो सकता नहीं से दोष गाय शंका न करे रज्वाम सर्पादि आत्मी द्वैत से अविद्या अध्यस्त कहते वास्तव में द्वैत विज्ञान आत्मा में नहीं है जैसे सर्पो भी वास्तव में रज्जु में है क्या नहीं अध्यक्ष आरोपित है वस्त्र है कहा माया में अविद्या में अविद्या ने ही सर्प को बना लिया अपने में और अध्यक्ष कहा कर दिया रज्जो में उसी प्रकार द्वैत और द्वैत विज्ञान कहा है अविद्या में है और अध्यक्ष कहा कर दिया गया आता में है और शास्त्र भी कौन है अविद्या में ही है इसलिए कार्यक्रम में लिया गया शास्त्र व्यापार अविद्या में और द्वैत विज्ञान भी अविद्या में और दोनों को बोले अभ्यास कर लो आप सभी कोई आपत्ति नहीं एक दोनों हो जाने कारण से द्वैत विज्ञान को शास्त्र अविद्या में ही नष्ट कर डालेगा समूल अविद्या सहित अविद्या का कार्य बोला द्वैत द्वैत विज्ञान को शास्त्र जो द्वैत का ही तत्व है उसको नष्ट कर डालेगा इसलिए बहुत सुंदर दृष्टान वहां दिया था भागवत में बहुत अच्छा आया था कि भाई ये कैसा होगा आत्मा का प्रतिबिंब आत्मा को देख लिया और देख करके स्वरूप को अपराध को नष्ट कर लिया ये कैसा हो सकता है उन्हें दिया कि भाई देखो सूर्य कहाँ है प्रतिबिंब कहाँ है प्रतिबिंब को देखने वाला कहाँ है अलग अलग जगह है ना सूर्य पर तो कहते कि देखो यहाँ प्रसन्न उठा कि भाई वो चक्षु का अनुग्रह कौन है चक्षु देख रहा है वो देखने का सामर्थ्य चक्षु कहाँ से मिला सूर्य ही उसका अनुग्राहक देवता है प्रतिबिंब के लिए जो उत्पत्ति हुई है बिंबात्मक सूर्य से अब सूर्य और उसके प्रतिबिंब को दोनों को कौन देख रहा है चक्षु देख रहा है चक्षु जो है एक छोटा सा तेजो अंश मात्र को लेकर के सूर्य का तेजो अंश मात्र को लेकर के चक्षु प्रतिबिंब को भी देख रहा है और सूर्य को भी देख लेता है उसी प्रकार उस आत्मा का जो चैतन्यता को लेकर बुद्धि आत्मा के एक अंश मात्र चैतन्य अंश मात्र को लेकर के बुद्धि उस जीव रूपा प्रतिबिंब को भी देख लेगा बिंबात्मक आत्मा को भी देख लेगा और सब यथार्थता को समझ लेगा कौन यथार्थ है कौन मिथ्या है जैसे आपकी चक्षु जान लेता है ना